श्रवणांतर मनन काल में इसको साधक बुद्ध ब्रह्म ज्ञान कहता हूं और उसी को निध्यासन होने पर अनुभूति जब हो जाती है तो ब्रह्म कहता हूं जो ब्रह्म विद्या है वो अज्ञान काल में था श्रवण काल में श्रवण काल में नाम क्या है इसका ब्रह्म विद्या मनन काल में इसका नाम ब्रह्म ज्ञान और निध्यासन में वो ब्रह्म ही है तीन अलग चीज नहीं इसलिए कहते हैं संबंध विशिष्ट संबंध जो कह रहे हैं इसी कहना पड़ा कि यह भेद निष्ठ संबंध नहीं है भेद निरूपित संबंध है लेकिन वो भी कहता है भेद निरूपित संबंध पर भेद भी आध्यात्मिक भेद है और आध्यात्मिक भेद का अनुष्ठान कौन है अभेद इसलिए अभेद निष्ठ आध्यात्मिक भेद निरूपित संबंध को विशिष्ट संबंध सबसे कहना उचित ही है स्थापित टीकाकार में क्योंकि इत्याशंग ब्रह्म विचार मंत्रण तद ज्ञान जनकत्व होगा क्योंकि ब्रह्म विचार के बिना उसे ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होगा तो ज्ञान जन्म द्वारा विषय संबंध सिद्धि तो ज्ञान जन्म द्वारा ही विषय के साक्षात संबंध हो जाता है इत्या अभिधेय प्रयोजन भवती अभिधेय वाला होता है और इसी प्रकार से वह प्रयोजन वाला भी होता है शास्त्र जन्यमिति अन्य विच्छेदात विषयोपि दर्शित क्योंकि यहाँ पर तीन प्रकार का होता है ना अयोग विच्छेद अन्योग विच्छेद अत्यंत योग विच्छेद मैंने इसके लिए कोई दूसरे की अपेक्षा नहीं इसके बराबर कोई दूसरा भी नहीं अयोग का मतलब क्या होता है दूसरा होता ही नहीं ऋषंग है पांडुरी होगा काला पीला नीला तो होता निवर्तन क्या करना है अयोग बच्चे अत्यंत योग है नील कमल वह अत्यंत योग है क्यों श्वेत कमल भी है ब्रह्म कमल भी है पीले रंग का कमल भी है तो इसे नील कमल कहोगे या रक्त कमल कहोगे तो अन्य रंगीन जो वह अवश्य ही है अत्यंत योग है उसका विच्छेद कर रहे हैं तो अयोग विच्छेद करना आसान है अत्यंत योग विच्छेद करना भी आसान है अन्य योग में संभावना रहती है जैसे अर्जुन धनुर्धरेव क्या अन्य भी धनुर्धर तो हो सकते हैं ये कल्लवी को गुरुदक्षिणा के रूप में नहीं लिया होता तो अर्जुन तो फीका था उसके साथ और वो दुर्योधन के पक्ष में गया होता तो अर्जुन तो मर गया होता बच नहीं सकता सब भविष्य का दृष्टिकोण में द्रोणाचार्य ये नहीं कि अन्याय क्या लोग समझते हैं अन्याय नहीं किया दो कारण है ये तो भविष्य दूसरा कारण असली है वो चोरी की विद्या विद्या की चोरी है ये गुरु का अनुमति था नहीं गुरु ने कहा था हाँ, ठीक है मैं तुमको सिखाऊंगा नहीं लेकिन तुम मेरी मूर्ति बना लेना पूजा करके तुम मुझसे प्राप्त कर लो तुम निज जाति का हो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता लेकिन तुम मेरी भक्ति करो से तुमको मिलेगा ऐसे आशीर्वाद देकर उन्हें भेजा नहीं बिना गुरु की अनुमति से गुरु से कोई विद्या प्राप्त करने की चेष्टा करो प्रत्यक्ष रूप या परोक्ष रूपेण और दोनों ही पाप है उस पाप का दंड है चोरी का दंड है जैसे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की पुस्तक चोरी कर जाते हैं <laughs> उसका दंड भी भगवान देंगे हमें देने की जरूरत नहीं है कल लगा रहे थे हम लोग संख्या क्रमानुसार है ना चार ग्रंथ नहीं मिला कहा गया भाई चाबी यही रहती है ना यही समस्या है तो आते होंगे ऐसे शैतान बुद्धि वाले खोल दिया देख लिया हाँ भाई अपने लायक है तो उठा के चल दिए बिना बोले मांगे पूछे नंबर डालने के बाद तारा लगने के बाद गया का मतलब क्या विद्या की चोरी है ना से तो एक कलवी वाले हैं जात का संस्कार है वेदांत की चार पुस्तकें और भी कितने गए क्या पता आप जब नंबर लगेंगे और उसको लगाएंगे ढंग से क्रम से तब ना पता चलेगा अब इतने का कवर लग गया नंबर सब चढ़ गया सब हो गया तो इनमें से गया है ये पता लग रहा है और आगे की कहानी बाद पता चलेगी है <laughs> चोर की हाथ में चाबी दे दूंगा वो अच्छा है अब पता तो चले चोर कौन है पता तो चलनी चाहिए ना चोर कौन है तो उसी के हाथ में दे सौंप देते तो तुम ही मालिक हो गई तुम इच्छा संभालो लाइब्रेरी तो शायद तो चोरी नहीं करेगा तो ये विद्या की चोरी भी बड़ा पाप उसका दंड था ये गलत अतः भविष्य दुर्गाम त्रिकालदर्शी थे जान देते नीच जात का है कोई भरोसा है नहीं दुर्गंध पक्ष में जरूर चला जाएगा जहाँ दुर्गंध पक्ष में चला जाए तो मुश्किल पड़ेगा सारा महाभारत उल्टा हो जाएगा मामला पत्रकार ऋषि होने से उन्होंने पहले से उसे अंग उठाए अतएव अर्जुन धर्मधर ये अन्य योग संभावना थी उसका विच्छेद करता हुआ ये बता यहाँ भी लोगों को भ्रांति हो सकता है मोक्ष के अन्य मेरे को साधने उस अन्य योग का विच्छेद करने के लिए यहाँ पर कहते हैं ये बकार अरे इसलिए छात्र आदि ना एवचन्यम इति अन्य योग विच्छेदात दर्शित औपनिषद जन्य ज्ञान से ही होता है अन्य किसी भी ज्ञान से नहीं होता है इस बात को संभावित अन्य सागरों का व्यवच्छेद करने वाला यह है नीचे टिप्पण कर बहुत सुंदर दे दिए हैं श्लोक नीलम मज्जम भवत्यव पार्थ एव धनुर्धर शंक पांडव एव सैव शब्द गति त्रिधा एव शब्द का तीन गति है नीलम अब्जम भवत्यव एक पार्थ एव धनुर्धर शंख पांडुर एव इस प्रकार से एव शब्द की तीन गति है तथा तो विशेषण संगत एवकार से अयोग विवच्छेद विशेष संगत नीलम अब्जम नीलम के विशेषण उससे संबद्ध होकर की तरफ आवर्तन करे उसका नाम अयोग विवच्छेद है विशेष संगत अन्य विच्छेद विशेष कौन है धनुर्धर पार्थ धनुर्धर एव पार्थ विशेष है धनुर्धर उसका विशेषण था पार्थ तो ही एकमात्र दूसरा नहीं हो सकता धनुर्धर या विशेष संगत अवकार जो होता है वह अन्योग विच्छेद है क्रिया संगत हर क्रिया से संगत शंक पांडव यहाँ पर जो क्रिया से संगत जो होगा वह अत्यंत अयोग इच्छित करने वाला है यदि आशयवाना अयोग इत्यादि ना इसलिए टिप्पणकार ने इस अयोग विच्छेद के बारे विस्तार से समझा दिया विशिष्ट संबंध विधेय प्रयोजन भवती एक भाष्यकार ने किम पुनस्त प्रयोजन क्या प्रयोजन क्या है तो जवाब में कहते हैं रोगार्थ से व रोग निवृत्त सुधा तथा दुखात्मक से आपनो द्वैध प्रपंच स्वस्थ था जिस प्रकार से रोग से पीड़ित व्यक्ति का अंदर रोग जो है वह यदि निवृत्त हो जाए वह जिस प्रकार स्वस्थ अपने आप को महसूस कर लेता है उसी प्रकार से दुखात्मक यह जीव जो है दुख के कारण द्वैत प्रपंच को विषम होने पर वह व्यक्ति है अपना आप तो स्वस्थ हो जाता है स्वस्मिन स्वस्वरूप तिष्ट दीदी स्वस्थ हो इन दृष्टान को लेकर कुछ लोग शंका कर सकते हैं मान लो एक रोग दूर भी हो जाए दूसरा रोग आ जाता है इसी प्रकार से भले हमारी जो है द्वैत प्रपंच को वशव होने पर स्वरूप स्थिति हो जाए लेकिन दोबारा द्वैत प्रपंच खड़ा हो सकता है पहले नहीं होगा कारण क्या है कि वह रोग के अनेक निमित्त है कारण रोगोत्पत्ति का कारण अनेक है आपका खाना पीना घूमना फिरना उठना बैठना और सबसे प्रबल तो जन जन्मांतर कृत कर्म है ना इसे रोग के कारण अनेक होने से एक रोग निपटने के बाद दूसरा रोग के कारण भी बने हुए हैं अनेकों कारण है ना सारे कारण एक साथ तो मिटते नहीं इसलिए वहां अनेकों रोग आने की संभावना एक गया तो दूसरा दूसरा गया तो तीसरा जिंदगी भर भी चलने की संभावना है नहीं यहां ऐसा नहीं क्यों द्वैतोपम के बाद स्वरूप स्थिति के अंदर पुनः द्वैत प्रपंच की उत्पत्ति के लिए कारणभूत अज्ञान अलग है क्या अनेक अज्ञान होता इस दुख का कारण ही होता द्वैत प्रपंच के लिए अनेक अज्ञान मानते हम कारण तब तो कहेंगे भाई तुमने एक अज्ञान को मिटाया है उसे द्वैत का प्रपंच विषम हो गया तो मुक्ता महसूस कर रहे हो लेकिन वाक्य में दूसरे भी अज्ञान है तीसरे भी अज्ञान है चौथा भी अज्ञान है वे अज्ञान फिर दोबारा द्वैत प्रपंच को खड़ा कर देंगे ऐसी आशंका नहीं की जा सकती क्योंकि अज्ञान जो विद्या जो माया है वह एक ही है अतएव वह एक कारण जब मिट जाएगा जब कारणांतर विद्यमान नहीं है तो पुनः द्वैत प्रपंच उत्पत्ति का प्रसंग ही नहीं हो सकता है ये दृष्टांत दृष्टान्त की विषमता को भी समझना है क्योंकि दृष्टांत जो दिया जाता है किंचित साम्यता मात्र को लेकर के है साम्यता इतना ही है कारण निवृत्त तत्कार निवृत्ति कितने से तात्पर्य रोग से पीड़ित आदमी का दुख का कारण रोग था वह रोग का निवृत्त हो जाने के कारण से ही तो स्वस्थ हो जाता है जैसे उसी प्रकार से यहाँ पर हमें जितने भी दुख है इस दुख का कारणीभूत कौन है अज्ञान है उस अज्ञान में निवृत्त होने के हम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे इतनी यहाँ पर दृष्टान का ग्रहण करना है रोगार्थ रोग निवृत्त स्वस्थता युवा मैंने यथा यथा रोग पीड़ित पुरुष से रोग निवृत्त सती स्वस्थता भवती तथा दुखात्मक आत्मनो द्वैत प्रपंचोपशमे स्वस्थता दुखात्मक मैंने आरोपित दुख शिष्ट जो आत्मा है जैसे आरोपित है दुख यदि दुख आपका वास्तविक प्रकृति होती उसे कौन दूर करेगा रोग यदि आपकी प्रकृति है तो उसे कोई दूर नहीं कर सकता रोग यदि प्रकृति में ही आ गया फिर उसे कोई दूर नहीं कर सकता इसे कहते हैं जेनेटिक डिजीजेस आज की भाषा में जो है जीन्स के कारण से उत्पन्न जो रोग है उसका कोई इलाज नहीं कर सकता संसार जो माता पिता के यहाँ वीर और रज के कारण से बच्चे के अंदर रोग आ जाते हैं वो खानदान ही आ गया है बीज में ही है वो विद्यमान या रज में ही विद्यमान है जिससे शरीर बना है जब उसी में रोग विद्यमान है उसको कैसे दूर करोगे आप पूरा शरीर उसके लिए आयुर्वेद शास्त्र पहले जमाने में कायाकल्प होता था पूरे काय का व्यूह को ही बदल देना तो अत्यंत कठिन प्रक्रियाएं थी जो आज असंभव ही है कोई करता भी नहीं इसीलिए तो कायाकल्प पद्धति से वो लोग बदल लेते थे आज के परिप्रेक्ष्य में असंभव है इसी तरह से यहाँ पर भी यदि आपका आत्मा का स्वरूप ही था दुख फिर तो उसे कोई दूर नहीं कर सकता लेकिन जिस प्रकार आपका स्वरूप दुख नहीं है आपका स्वरूप रोग नहीं है आपकी प्रकृति रोग नहीं है इसलिए आप रोग को दूर कर लेते हो जो आपका प्रकृति नहीं जो आपका स्वभाव नहीं है वो आगंतुक है वो आरोपित है जो आगंतुक और आरोपित है उसका निवारण किया जा सकता है और निवारण करने के बाद पुनः तभी वो आ सकता है उस आगंतुक तत्व के अनेक कारण होंगे तो यावत काल पर्यंत समस्त कारणों का विनाश नहीं करेंगे तावत कारण वस्तु का अत्यंत अभाव नहीं हो सकता लेकिन रोग के इतने कारण है उसका आत्यंतिक निवृत्ति बिना ज्ञान की निवृत्त का हो ही नहीं सकता है यह दृष्टांत किंचित साम्यता को लेकर समझना है या ग्रहण करना है इसलिए दुखात्म से आप ने दुख आरोपित है यथा रोग आपकी प्रकृति जो स्वभाव है स्वस्थता का उस स्वस्थता में आरोपित रोग को निवृत्त करने पर आप वापस स्वस्थ जिस प्रकार हो जाते हैं उसी प्रकार से दुख का आरोपित आत्मा में जो दुख को निवारण कर दो और दुख के कारण को निवारण कर दोगे अपने आप दुख निवृत्त हो जाएगा तो स्वस्थ हो जाएंगे दुख का कारण क्या है द्वैत प्रवंच द्वैत प्रपंच का कारण कौन है अज्ञान है तो अज्ञान का निवृत्त होने से आप स्वस्थ हो जाएंगे इसलिए रोग का उपाय से रोग निवृत्त जितना भी कर लो काम से नहीं हो पाता कि रोग के कारण का उपाय कोई नहीं करता है आयुर्वेद शास्त्र में तो यही है रोग के कारण ढूंढा जाता है नाड़ियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है हमने तो कोई वैद्य देखा ही नहीं आज तक सुना भी नहीं बल्कि जो उत्तर भारत में कोई इस तरह का वैद्य हो जो नाड़ी देख करके सब कुछ बता दे सब कुछ बता दे छोड़ रहा नहीं ऐसे नाड़ी के ज्ञाता में देखा दक्षिण भारत में जो हाथ पकड़ने से ही बता देगा आपका उम्र में कौन सी उम्र में शादी होगा कितने उम्र में बच्चे पैदा करेंगे याद और जन्म से अभी तक आपके कितने रोग हो चुके हैं और आगे कौन से कौन से उम्र में कौन सा कौन सा रोग तुमको अटैक करने वाला है सारा जन्म से मरण तक के पोल पट्टी खोल देते हैं नाड़ी पकड़ क्या कला है नाड़ी विज्ञान में इसमें है मैंने धनवंतरी विद्या का जो उपासना करना पड़ता है यंत्र की पूजा करनी पड़ती है मंत्र का जप करना पड़ता है सिद्ध करना पड़ता है पहले लेकिन करते हैं वहां लोग उसको करने से पहले पिता पुत्र को वैदिकी में छोड़ता भी नहीं यहाँ जैसा नहीं है दो चार गाड़ी बोटी चाल बस चा, चालू कर दी दुकानदारी उसने अपने कमाने की धंधा में बोल रहा है वैद्यराज अमुख है वहां ऐसा नहीं है अभी भी कुछ है परिवार जो इस प्रकार से खानदानी है वो अपने संतान को शिक्षा देते हैं उनसे पूजा पाठ करा करके जब देखेंगे परिपक्व हो गया है अपनी सिद्धि और रोजना के लिए दो माला जपने से आप वो मेंटेन होगा तब पिता के पुत्र को चलो मेरे साथ बैठो पुत्र हो चाहे पुत्री एक डॉक्टर चित्रा है लेडीज वो तो हाथ में नहीं छूती है ऐसी सिद्धि उसने पा लिया इतने दूर में कम से कम दस बारह फुट दूर में बिठाएगी मरीज को एक छोटा कमरा वो अलग है एक छोटा कमरा ये अलग है दो है इसमें बैठती है मरीज वहां बैठेगा और मरीज के साथ कोई नहीं रह सकता मरीज के साथ जो है उनको मरीज बिठा करके उस कमरे से बाहर जाना पड़ेगा बहुत लंबा चौड़ा वरांडा है सब लोग वहां बैठे रहे मरीज को बिठा के आदमी जब बाहर हो जाए उसके मरीज को बोलती है श्वास लो पांच बार केवल पांच बार श्वास ले लेती और जैसे श्वास छोड़ता है तो वो श्वास लेती है ये अलग क्षमता है और सारा रोग बता देती है इसके अंदर क्या क्या करनी क्या जरूरत है कितनी क्षमता है आज भी ये कला है आज भी जीवित है डॉक्टर चित्रा बेंगलोर में आजकल रहने लगी है वैद्यकीय पाठशाला खोली भी है धनवंतरी चिकित्सालय भी है लोग लाइन लगे रहते हैं हफ्ता और पहले से बुकिंग करना पड़ता है आपके बार हम गए थे हमारे लोगों के पुराना परिचय है ये जैसे फोन किया कहता साहब मुझे आपके लिए कोई जरूरत नहीं है क्यों लगने का आपको वो टाइम में हम देखेंगे नहीं बात दिक्कत उस टाइम में आप आओगे तब दिक्कत होगी नियम तो नियम है आपको भी क्यों में आना पड़ेगा बुकिंग करके आना पड़ेगा इसलिए आप जो है ना हमारे घर में अतिथि बन के भोजन के लिए आइए भिक्षा भी पाइए फिर आपका सब कुछ देखते बन फिर एक दिन भिक्षा उसके यहाँ हुई तो उसे देखिए बता दिया सब आपके क्या स्थिति होती है शरीर इस समय डायबिटीज कहाँ तक है और कितने समय में क्या हो सकता है इसका सब बता ऐसे लोग आज भी विद्यमान है इसे रोग के कारण को ढूंढना पड़ेगा और उसे कह दिया जड़ से साफ नहीं हो सकता आपको जिंदगी भर आप खान पीन में नियंत्रण रखो तो शरीर रहेगा और जिस दिन शरीर छोड़ना अच्छा और दो चार किलो रसगुल्ला खा लेना आपके लिए तो बहुत आसान है शरीर छोड़ने का बात होने का बहुत बढ़िया है तुमने बता दिया अच्छा ही हुआ कारण ढूंढ लेते हैं और उसकी संभावना तक वो साफ बोल देते कैसा नियंत्रण में रह सकता है वास्तव में जड़ से दूर हो सकता है कि नहीं हो सकता है सब पता है इस प्रकार के इसलिए दृष्टांत भगवान भाषिका ने जान के इसको लिया है वास्तव में व्यक्ति रोग के जड़ को समझ लेता है तो उस जड़ से उसको उखाड़ दिया जाए रोग सजा के लिए मिटता है रोग के कारण आपके कर्म भी है ना केवल खान पीन रहन सहनी नहीं है कारण पर जाना है कौन से प्रहार कर्मानुसार आपको कौन सा रोग होने की संभावना है यदि उस कर्म के अनुसार अभी प्रायश्चित कर दो तो रोग होगा ही लेकिन कर्मों को जानना भी तो पड़ेगा ना वही जानने के लिए उपासना की जरूरत उपासना किए बिना जो वैद्य सब करता है तो वो नहीं जान पाता कर्म क्या जानेगा वो तो कारण भी नहीं जान पा रहा है आजकल तो भौतिक कारण को भी नहीं पकड़ पा रहा है तो आध्यात्मिक कारणों को कहा से जानेगा अतएव आजकल की आयुर्वेद शास्त्र विफल हो चुका है यहाँ कारण ही लेकिन शास्त्रकार का सिद्धांत यह है इसलिए आप देखेंगे योग सूत्र में भी इसी को दृष्टान बनाया चतुर्द आयुर्वेद शास्त्र प्रवृत्त होता है रोग रोग के कारण रोग के निदान और उसका फल ऐसा पता है ना पर चार भागों में विभक्त का चिकित्सा शास्त्रीय था तथा ये भी संसार का भी कारण है हे हे हेतु तो, हान हानोपाय चतुर्थ विभक्त करके वहां प्रतिष्ठान दिया था हे क्या है संसार है हे का कारण क्या है अविवेक है संसार का कारण हान क्या है मोक्ष है मोक्ष उपाय क्या है समाधि यह वर्णन किया था कि नहीं या योग भाष याद है किंचित तो स्मरण में आ जाएगा बोलने के बाद तो कम से कम तो उसी प्रकार यहाँ पर इसलिए राशिकार दृष्टान दे रहे हैं ये सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत बन जाता है यहाँ भी चारों के चारों बात घटेगा हे है द्वैत प्रपंच हे का कारण क्या है अज्ञान हार है मोक्ष हान पाए ब्रह्म विद्या उसी ने ज्ञान के भाषाकार ने दृष्टांत दिया है यदि भी कुतर्क करने वाले कर सकते हैं कि रोग रोगांतर उत्पत्ति जैसा होता है दोबारा द्वैता द्वैत प्रपंचांतर उत्पन्न हो सकता है कत ऐसा नहीं हो सकता वहाँ अनेक कारण होने से संभावना है यानी यहाँ पे एकमेव अद्वितीय अज्ञान है एकमेव अद्वितीय ब्रह्म को आवरण कर रखा है उस एक अज्ञान का नाश करने मात्र से ही दोबारा वहाँ पर अज्ञान नाम की वस्तु न होने के कारण से दोबारा द्वैत प्रपंच उत्पन्न नहीं होता अद्वैत भाव एवं प्रयोजनम इसलिए अद्वैत भाव को ही प्रयोजन समझना चाहिए द्वैत प्रपंच से अविद्या विद्या उपशम द्वैत प्रपंच क्या है अविद्याकृत है और अविद्या अनेक नहीं है एक है अविद्या एक है और अविद्या का स्वरूप में अनेक जाति वो अलग चीज है जैसे आपको कहते हैं आप कितने हो है? आप कहो मैं एक हूं अरे एक कैसे हो भाई तुम्हारा हाथ अलग है तुम्हारा पैर अलग है तुम्हारा सर अलग है कम तो हम अष्टांग बोलते कि नहीं आठ तो हूं मैं ऐसे क्यों नहीं बोलते आप आप ये नहीं कहते हैं मैं आठ तो हूं आप मैं एक हूं अरे एक तो कहां से आ गया कर आठों को अभिमान करने वाला मैं एक उसी प्रकार सत्व रज तम रूपी त्रिगुणात्मक होने के बावजूद भी माया तीन नहीं है इन तीनों को देखकर उसके अंदर एकत्व तो कई व्यवहार होता है इसीलिए वह एक है वह अनेक नहीं उस अविद्या विद्या समस्या और ब्रह्म विद्या से क्या होगा उस अविद्या को उपशम हो जाएगा तो जब अविद्या नष्ट हो गई द्वैत प्रपंच भी नष्ट हो जाएगा तो दुख कहाँ से रहेगा अब आरोपित दुख भी निवृत्त हो गया ब्रह्म विद्या प्रकाशन आया अस्य आरंभ क्रियत है इसे ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के लिए ही इस प्रकरण चतुष्टय का आरंभ किया गया है कहते ये कैसे आपको पता चला ये ब्रह्म विद्या से सब नष्ट हो जाएगा और ये जो कुछ भी है अविद्या के कारण से ही द्वैत प्रपंच है कहते श्रुति प्रमाण है द्वैतम इव भवती जहाँ द्वैत के समान भी किंचित हो जाए अभयम भवती अभय अन्य दिवस्या तथा अन्यो अन्य पश्य अन्यो अन्य जहाँ कोई अन्य के समान भेद के समान में अनुभव कर ले भेद है मान लो तो गया ही इसको तो छोड़ ही दो भेद के समान में जो स्वीकार किंच भी कर लेते स्वप्न में आप देख रहे हो आप एक में अद्वितीय थे लेकिन भेद के समान परिकल्पना हुई वहां उतरे मात्र से भयंकर भय हो गया अन्य अन्य पशित अन्य अन्य विजानी आदि इत्यादि क्रिया होती है इसे दो युवा है यहाँ यत्र ही द्वैतम युवा और यत्र अन्य दोनों ही बृदण्यक का है एक ही मंत्र का पूर्वोत्तर भाग है और बृदण्यक का कौन है यत्र सर्वम आते वो केनकम पश्य तत्कम विजानियात जहाँ पर अस्य सर्वम अस्य इस मोक्ष के प्रति सर्वम आत्मा सब कुछ आत्मा ही रूप हो गया अर्थात कल्पना के अधिष्ठान को जब ग्रहण करते हुए कल्पित को अधिष्ठान से अभिन्न रूप में जब ग्रहण कर लेता है तब किश्य वह तो किससे किसको देखेगा जो स्वस्वरूप से अभिन्न समस्त ब्रह्मांड हो गया और स्वस्वरूप से अभिन्न ही हुआ इतना ही नहीं अभिन्न होने पर भी अभिन्न प्रतीति मात्र है कि वास्तविक अभेद तो है नहीं जो दो हो तब अभेद भी हो इन दोनों अभिन्न है कहा जाए ऐसा भी नहीं है मिथ्या प्रपंच स्वाधिष्ठान परिकल्पित होकर अभिनत्व ग्रहण हो रहा है कहा जाता है वास्तविक दो वस्तु में अवैध का व्यवहार भी नहीं है एक सत्य वस्तु है दूसरा मिथ्या वस्तु है सत्यान प्रति मृथुनी कृत्या इधर ब्रह्मसूत्र के संबंध भाषण में आचार्य शंकर स्पष्ट लिखते हुए आप कहे हैं सत्यान रुते मिथुनी कृत्या इस सत्य पर मिथुन का मिथ्या का जो आरोप हुआ है उस आरोपित वस्तु को मिथुनी भाव कर दिया आपने द्वैत भाव में ग्रहण कर लिया है उसी को निवृत्त करने के लिए हमें कहना पड़ता है आरोपित प्रपंच को लेकर कहना पड़ता है दोनों अभिन्न है आरोपित और उस आरोपित का अधिष्ठान तत्व को अभिन्न हमें कहना पड़ता है लेकिन वास्तव में अभिन्नता नहीं है क्यों क्योंकि दूसरा है ही नहीं तो किससे मैं अभिन्न कहूँ न तो एक दूसरा तो उससे मैं अभिन्न कहूँ किसी चीज को इसलिए स्वप्रवत यहाँ पर व्यवहार समझना है इत्यादि श्रुति अस्य अर्थ सिद्धि इत्यादि श्रुतियों से यह पदार्थ स्वतः सिद्ध हो जाता है द्वैत अविद्या कृतत्व अस्य अर्थ से मैंने द्वैत जो है है यह बात इन श्रुतियों से स्पष्ट ही सिद्ध हो जाता है कहते तो महाराज ये तो ठीक है आपने अभी बताया कि ब्रह्म विद्या से अविद्या निवृत्त हो जाएगी अविद्या निवृत्त होगी द्वैत प्रपंच निवृत्त होगा उसे दुख निवृत्त होने से मैं अपने स्वरूप में स्वस्थ हो जाऊंगा निवृत्त कैसे होगी अविद्या को निवृत्त करना कोई मजाक थोड़ी है यही आकर के उसका फल जात ऐसे कलती रथी रथी महारथी जो आए थे उनको कहा एक तो रथी है एक महारथी एक अथी रथी क्योंकि एक के लिए M A M A M A कई एम ए कर रखा हो और दूसरे ने पीएचडी कर रखा है और तीसरा रीडर है एक से बड़े हुए कि नहीं हुए अब बात यही चल रही थी है शास्त्र सब जो है ऐसे ही बोलता है वेदांत जो है ना सब झूठ है तो हमने उनको कहा ये बात बताओ वेदांत झूठे बाद में सोचेंगे हम और झूठ है जब तो छोड़ो आप पहले छोड़ो जब तो तुम्हें उसके प्रति आस्था नहीं श्रद्धा नहीं उसकी तो चर्चा ही मत करो छोड़ो मैंने कहा बताओ तुम सच हो तो तुम झूठ हो बता सर मैं तो हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं मैंने कहा मेरे को आप दिखाई दे रहे इसलिए आप सच्चे नहीं हो सकते हैं क्यों व्यवहार हो रहा व्यवहार हो नहीं कि तो व्यवहार तो हो रहा है भाई व्यवहार तो दिखाई दिए हुए प्रत्येक वस्तु से व्यवहार कर रहे हैं क्यों नहीं व्यवहार हो रहा है मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं इतने मात्र से आप सत्य सिद्ध नहीं हो सकता इसे मैंने कहा हाँ, देखो अब हाँ, हम आपको बताएं चलो बाहर थोड़ा गए बाहर चलो अंदर फिर अंदर आपने क्या अनुभव किया आपने क्या अनुभव किया बाहर गए फिर अंदर आ गए यही तो अनुभव हुआ मैंने कहा बताओ कि आप बाहर गए थे किसकी अपेक्षा से आप कह रहे बाहर अच्छा ये बात बताइए पहले आप यहाँ नहीं थे ना आप जो है साढ़े छह बजे आए ना यहाँ कहा से आए आप तब क्या बोले बाहर से आए और अंदर गए और आप बाहर गए फिर अंदर आए मैंने अंदर बाहर व्यवहार किसके आधार पर आपने किया ये दीवारों को लेकर के ना मैंने ना बाहर सत्य है न अंदर सत्य है इस दीवार की वजह से बाहर और अंदर व्यवहार हो रहा है है तो आकाश एक दिशा एक न अंदर है न बाहर है है ना तो उसी प्रकार से इस शरीर के वजह से व्यवहार हो रहा है आपके वजह से नहीं हो रहा है इसलिए आप सत्य कहाँ हुए आप तो झूठे हो इसे बाहर भी झूठा अंदर भी झूठा दीवार के कारण से बाहर अंदर व्यवहार हो गया इसे शरीर के कारण से आप राय साहब मैं आपसे बोल रहा हूं अरे धर्मानंद ही आपसे बोल रहा है सुन रहे अरे इन दो शरीरों के कारण से ही बोलचाल हो रहा है ना ये ना मैं सत्य ना आप सत्य दोनों ही झूठे हो गए घबरा गया तो कहते ये ऐसे कैसे होगा महाराज ये शरीर तो मर जाता है हाँ, आ गए ना आप सही रास्ते पे आप सही रास्ते पे आगे क्यों आ गए तो शरीर मर जाते सर शरीर भी सच्चा है फिर व्यवहार कैसे सच्चा हो जाएगा ये दीवार नष्ट हो जाए तो अंदर बार व्यवहार सब खत्म है ना वह भी नहीं हुआ जैसे शरीर नष्ट हो जाए फिर आपका बोलना मेरा सुने मेरा बोलना आपका सुने व्यवहार भी तो झूठा हो गया तो व्यवहार झूठा है क्यों शरीर झूठा है फिर सच्चा कौन रह गया आप बोलो आप सच्चे हैं साबित करो मैं सच्चा हूँ कैसे साबित करोगे नहीं कर सकते बस तुम हो बस यही सच्चाई हो कुछ नहीं तो अपने आप को मान रहे मैं हूँ और हमने भी मान लिया आप हैं बस ये है जो है ना बस यही सच्चाई है और कुछ भी सच्चाई तो इसी को कठोर में यमराज जी ने समझाया अस्तित्व उपलब्ध हो गया यही अनुभव करो हूँ बस ये मैं हूँ ये भी गलत हो जाएगा वो मैं क्या वो सच्चाई क्या हाँ, इसीलिए वेदांत क्या बोलता है समझने के लिए बहुत खोपड़ी की जरूरत है तुम्हारे पास इतनी नहीं तो पीएचडी किया है वो पीएचडी ना मैंने कहा हमारे कपड़े से खराब ये कपड़ा भी कम से कम साल भर तो जीता है ना तेरी पीएचडी तो चार दिन की योग्यता नहीं रखता है क्या है तेरी पीएचडी में एक कागज वह कागज में क्या लिखा है राय जो पीएचडी किया है जिसने किया ना वो सच्चा है न किया हुआ सर्टिफिकेट ही सच्चा है तेरा अकल में कुछ तो है नहीं कच्चा है तो मैं क्या तो हाथ जोड़ने महाराज आपसे तो तर्क से जीत नहीं सकते मैंने कहा किसने कहा आपने तर्क किया आप तर्क किए हैं क्या अरे आप सच्चाई को जानने की चेष्टा कर रहे हैं तर्क कहा कर रहे हैं तो सच्चाई को स्वीकार करो ना बस वही वेदांत कहता है कुछ नहीं शास्त्र गलत नहीं है अब मैं आ रहा हूँ शास्त्र में कदर शास्त्र इसलिए गलत नहीं है गलत आपकी बुद्धि है आपके मन खराब है सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहता है और ग्रहण करने की तरीका भी मालूम नहीं है तो कुतर के जाल में फंसा पड़ा है इसीलिए आपने बुद्धि को ठीक करो मन को ठीक करो इन पीएचडियों से कुछ नहीं होता है अब आज जो है पहला दिन मिल रहे हो इतनी बहुत है मैंने कहा और आगे कभी बोलेगा नहीं किसी के सामने की छापेगा तो युक्ति से सिद्ध करना पड़ता है इन मूर्खों को समझाना पड़ता है मूर्ख तो है ही पढ़े लिखे मूर्ख है पढ़े लिखे मूर्खों को तो ऐसे समझाना पड़ेगा ना अनपढ़ मूर्ख को समझाना बड़ा आसान है जो अनपढ़ मूर्ख होते हैं ना तो ये इनको समझाना बहुत आसान है ये पढ़े लिखे मूर्खों से बड़ा तकलीफ होता है इन लोगों के साथ व्यवहार करना इनको समझाना बहुत कठिन काम क्यों इनके पास न आस्था है न श्रद्धा है न भक्ति है न विश्वास है न प्रेम है कुछ भी नहीं है ये जो पशुओं से घटिया होते जो पढ़े लिखे मूर्ख होते नहीं है ये पशु में कुत्ते को ट्रेनिंग दे दो तोता को ट्रेनिंग दे दो वो भी समझ लेगा और आस्था रखेगा इन्हें पढ़े लिखे मूर्ख कभी नहीं खतरनाक जंतुओं में से जैसे हम तो उनको कहा तुम लोग खतरनाक जंतु हो वास्तव में जो है मनुष्य भी नहीं है हमारे दृष्टि तो मनुष्य भी नहीं है खतरनाक जंतु क्यों तो खुद तो नरक में डाल रहे हो और पढ़े लिखे होकर दूसरों को जो गलत मार्ग रास्ता बता रहे हो दूसरों को भी नरक में डाल देते हो तो खतरनाक हुए कि नहीं हुए इसे तो अनपढ़ अच्छा और ये तो कहेगा मैं जानता नहीं कोई इस विषय में अच्छा आदमी है वो तो वो तो आदमी है उसके अंदर मनुष्यत्व है और सच्चाई को स्वीकार कर रहे मैं नहीं जानता तुम नहीं जानते मैं जानता समझ रहे हो यही सारे भूल हो रहा है यह भाष्यकार ये समझाना चाह रहे हैं यह अविद्या कृतत्व सिद्ध करने के उपाय क्या है ओमकार का निर्णय कर लो और कोई रास्ता नहीं ओंकार निर्णय प्रथम प्रकरण आगम प्रदानम आद तत् प्रतिपत्ति उपाय भूतम सबसे पहले इसलिए ओंकार का निर्णय करने के लिए पहला प्रकरण है आगम प्रधान प्रकरण जिससे बारह मंत्रों का विचार किया जाएगा विभिन्न कारिकाओं से अड़तीस या उनतीस है कुछ कारिकाएं प्रथम प्रकरण आगम प्रधानम आत्म प्रतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम आत्म तत्व का प्रतिपत्ति ज्ञान कराने का उपाय होता आगम प्रकरण को आरम्भ कर देते हैं ओंकार तो स्वरूप का निश्चय के लिए ही है क्योंकि ओम एक वाचक है जितने भी वाचक शब्द है घट पट इत्यादि जो हम शब्द व्यवहार कर रहे हैं जितने भी शब्द है ये शब्द अपना विधेय से अभिन्न है इसलिए वाक्य पदीकार व्याकरण के दर्शन परख विवेक विचार प्रकट किए हैं बहुत ही सुंदर लिखते हैं नहीं एको भी प्रत्यय अर्थात हृदय एक भी ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता जो अर्थ से भिन्न होकर प्रतीत हो सके अस्थि प्रत्यादृत है और कोई ऐसा अर्थ नहीं जो ज्ञान से भिन्न होगा क्योंकि ज्ञान में ही अर्थ कल्पित है ब्रह्मकांड का श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है व्याकरण के दर्शन के प्रति व्याकरण में अद्वैत वेदांत का ही प्रतिपादन करता है यह बात बहुत सुंदर ढंग से स्थापित किया है अभिधान और अभिधेय जब तक भिन्नता आप स्वीकार करोगे तब तो तक द्वैत प्रपंच मानी चाहिए लेकिन जब अर्थ अपना ज्ञान से अभिन्न है अर्थ तद्बोधक शब्दों से अभिन्न है इसका मतलब है अर्थ कल्पित है वह शब्द ही सत्य है शब्द भी तावत काल पर सत्य है सत्य है यावत कारण तो शब्द के कारण में प्रवेश नहीं करते जब शब्द के कारण को ग्रहण करते तो कारण ही सत्य रह जाता है वह तो शब्द भी मिथ्या हो जाता है इसलिए यहाँ पर भी यही करना चाह रहे हैं पूरी प्रक्रिया मांडव का यही है अभिधेय को अभिधान से अधिन करना है फिर अभिधान को ओम से अधिन करना है ओम ब्रह्म से अभिन्न अतएव ब्रह्म ही सत्य है और प्रज्ञान ब्रह्म इति स्वरूपम उसी की भूमिका बांति संक्षेप में कह दिया ओंकार शब्द के तत्पार्थ निर्णय जब करने के लिए उसके स्वरूप का निश्चय करने के लिए ही यह प्रथम प्रकरण जो आगम प्रधान प्रकरण है आत्म तत्व के निश्चय करने के लिए ही प्रयोग किया गया यस्य द्वैत प्रपंच से उपशमय अद्वैत प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति दीर्घ हुआ कारण क्या है रज्वा में रो है ना आगे ढलोपे पूर्व से त्रिगुणा द्वैत प्रपंच से उपशमे द्वैत प्रपंच को उपशम होने पर जिस द्वैत प्रपंच के उपशम होने पर अद्वैत की प्रतिपत्ति होती है यह दृष्टान क्या है रज्वा में वह सरपाल विकल्प उपशमे सरपाल विकल्प उपशम होने पर जिस प्रकार रजवादी का स्वरूप स्थिति हो जाती है ठीक उसी प्रकार से रज तत्व की प्रतिपत्ति होगी उसी प्रकार से अद्वैत प्रतिपत्ति होगी द्वैत हेतु तो प्रतिपादन प्रतिपादनाय लेकिन वो जो द्वैत प्रपंच है उसके उपशम होने पर भी दोबारा द्वैत प्रपंच क्यों नहीं खड़ा होगा इसको स्थापित आपको कहना पड़ेगा वह द्वैत प्रपंच वास्तविक नहीं है आरोपित है मिथ्या है मिथ्याभूत वस्तु को अपने अधिष्ठान से एक बार निवृत्त कर लिया आरोपण को दूर कर लिया तो अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद दोबारा वह आरोपण नहीं होता अतः द्वैत में हेतुतः वही सत्य प्रतिपादन आए मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने के लिए विभिन्न तर्क और युक्तियों के द्वारा मिथ्यात्व का प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण ये दूसरा प्रकरण आरंभ होता है वही सत्य प्रकरण लेकिन ठीक है जैसा द्वैत मिथ्या है अद्वैत मिथ्या हो सकता है है ना कोई कह सकता है जिन तर्कों से अद्वैत को मिथ्या साबित कर रहे हैं उसी प्रकार के तत्सदृश वर्गों के द्वारा हम अद्वैत को मिथ्यासित कर देंगे तर्कते नहीं नहीं तथा अद्वैत से वैधत्य प्रसंग प्राप्त अद्वैत भी मिथ्या है ऐसा किसी ने प्रसंग उठाए तब उस प्रसंग प्राप्ति में युक्ति तथा दर्शन दर्शनाय युक्ति पूर्वक ये सिद्ध करना है अद्वैत जो है मिथ्या नहीं है वह तथा तो मैंने सत्यत्व है इस बात का दर्शन कराने के लिए तृतीयम अद्वैत सिद्धि प्रकरणम तीसरा प्रकरण अद्वैसी प्रकरण है ठीक है अद्वेषित कर लाभ क्या होगा अद्वैत से तदात प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानी यानी वादांतराणी अवैधिकाणी तीसरा मन्योनि विरोधित्वा अतथार्थत्व तद उपपत्ति भी एवं निराकरणाय चतुर्थम प्रकरण तब होगा क्या आपने अद्वैत जैसे किया वादांतर के लोग खड़े हो जाएंगे वो कहेंगे नहीं अद्वैत नहीं मानेंगे हम हम तो अपनी बात ये साबित कर रहे हैं हमारे दर्शन ये कहता है हमारे ऋषि ने ये कहा है हम इसी को मानेंगे ऐसे सब खड़े हो जाएंगे लड़ने को और सकल विरोधों का परिहार करना पड़ेगा ना वादांतरों का निवारण करना पड़ेगा तभी अद्वैत होगा इसे कहता अद्वैत से तथा प्रतिपत्ति के प्रतिपक्ष यानी वादांतराणी अवैधिकाणी अद्वैत की सत्यत्व का प्रतिपादन करने के प्रतिपक्ष भूता जितने भी वादांतर वाद है वो भी कैसे है सब अवैधिक आने अवैधिक है सब के सब तेषाम उनको हमें साबित करना पड़ेगा उनके अपने ही आपस में अन्यों विरोध होकर के टकरा करके सब हार जाएंगे उन्हें को आपस में बढ़ा देना अपना लड़ने की जरूरत है उनको आपस में भिड़ा दो अपने आप ठंडे हो जाएंगे अन्यों विरोधित अर्थार्थत्व वो वास्तविक सत्यार्थ कथन नहीं करते हैं अरे तो उपपत्ति रवि रेवा वादांतरी उपपत्तियों के द्वारा ही को उपपत्ति देने की जरूरत नहीं उनकी तरफ से उन्हीं को परास्त कर सकते हो आप उनकी तरफ से उनको ही परास्त कर दो जैसे कल हमने किया ना यही तो किया और उनकी तर्क थी तो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ व्यवहार तो हो रहा है इसलिए मैं हूँ मैं सत्य हूँ क्या वेदांत बोलता है जगत ही सत्य इसलिए वही सही है उनने तर्क दिया और उनके तर्क उन्हीं पर उल्टा दिया हमने अब बताओ सत्य क्या है और उनके तो से यही है जो प्रश्न करता है ना उसके प्रश्न में जवाब होता है ये प्रश्न करता की अकल नहीं होती बस इतनी बात प्रश्न करता यदि अकल लगा है थोड़ी वो प्रश्न ही जवाब छिपा हुआ उसी को थोड़ा तर्क के जरा मांझ दो और जवाब बन जाएगा प्रश्न का शोधन करना है तो जवाब निकल जाता है किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है आप एक बार इस कला को प्राप्त कर ले सकल संशय को निवृत्त हो जाएगा आपके अपने समस्त संशय दूसरों को तो कर ही लोगे पहले अपना दो छिद्यंते सर्व संशय उन्होंने तो तस्वीन दृष्टि परावरे है तो कला ही परावरे और कुछ क्या है ब्रह्म विद्या है ना वो कला एक बार पच जाएगी तो फिर आपको कोई कठिनाई नहीं होती कोई भी कहीं से कुछ भी प्रश्न करे कोई दिक्कत नहीं कुछ भी बोले उल्टा पुल्टा क्या दिक्कत है उसको वैसे ही जवाब दे सकते हो तुरंत तत्काल निकलेगा जवाब क्योंकि वो कला आपको आनी चाहिए प्रश्न में जवाब कहाँ छिपा है प्रश्न में जवाब कौन सी शब्द छिपा शब्द पकड़ना है और जवाब निकल जाएगा वेदांत पढ़ने का मतलब कला को सीखना है इस कला को नहीं सीखोगे स्वयं आप अपने ही संशय भूता प्रश्न जाल में फंस करके वेदांत को पचा ही नहीं सकोगे भाष्यकार के हर तरीका पर ध्यान दीजिए इसलिए हर शब्द हर वाक्य पर ध्यान देना है कौन से तर्क के लिए क्या जवाब और किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं इस तरीके को पकड़ लीजिए अद्वैतानुभूति दूर नहीं है भाष्य पढ़ते पढ़ते आपको अद्वैत अनुभव हो जाएगा दस प्रतिशत पूरा होने से पहले हो जाएगा काम कहना तक तो करीब पांच प्रतिशत हो गए छठा चल रही पांच हो गए छठा चल रहा है और छठा ही सबसे भयंकर है इसको बचा लिया तो बाकी तो कुछ भी नहीं इसलिए बहुत स्लो स्पीड पे जा रहा हूं धीरे धीरे पकड़ो इसको इनकी तरीका यहाँ युक्तियों को पढ़ना इसलिए जरूरी इसके बिना आप कोई भी वेदांत ग्रंथ पढ़ेंगे आप अद्वैत को समझ नहीं सकेंगे इसको समय समझते जाना है इसलिए तदपत्ति में रहेगा मैंने उनकी ही युक्तियों से मैं अपनी कोई युक्ति नहीं देना चाहता खत उन वादांतरी युक्तियों के द्वारा ही उन्हीं के तत्वों का मैं निराकरण करता हूँ कहा उसके लिए चौथा प्रकरण समझो अपने ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय तुम थे अरे ओंकार का निर्णय करने करने से ही आत्म तत्व आत्म तत्व का प्रतिपत्ति का उपाय है ये ओंकार निर्णय ये आपने कैसे जाना आत्म तत्व का अवज्ञान या अवबोध ओंकार का निर्णय करने से होगा आपने कैसे जाना कैसे जाना अनेक श्रुतियां प्रमाण है उच्छेद है ओम इत यमराज जी संग्रह में प्रवीणी मैं संक्षेप में तुमको सम्य ज्ञान के योग्य वस्तु कहने जा रहा हूँ क्या है वो ओम इतने देता दालमनम श्रेष्ठम एक दालमनम परम इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय ही नहीं है जानने को इसी को पकड़ो और तैर जाओ जैसे कहते हैं नहीं जी कैसे बाहर करो अरे गाय जा रही है गाय का पूछ पकड़ ले तैर जाओ नहीं अब गाय का पीछे पकड़ को तैर जाओ गाय तो तैर जाती आराम से अब आप नहीं जानते तैरो तो क्या हो गया गाय पर बैठ जाए ढंग से अपना पार हो जाएंगे जिस ओम रूपी आलमन को पकड़ो तो आराम से तर जाओगे संसार के सागर